देखे मो दृकामनो हर रामयङ् कितयति सुन्दर चकितचितव मुन्दरी पहिचनि हर्ष विषाद हृदय कुला मुक्ति कुशक अजय रघुराए माया ते असी रचि नहि जाए सीता मन बे चर करना मधुर बचन बो ले हनुमाना तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले रामचंद्र गुण बर लागा सुनत सीता कर दुख भागा लागे सुनय श्रवण मन मनलाय आदेहुते सब कथा सुनाय श्रवणामृत जहि कथा सुहाये कहि प्रगत होत कि न तब हनुमन्त निकट चल गया फिर बैठे मन विषमय भय वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई सीता जी बोली जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता तब हनुमान जी पास चले गए उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई उनके मन में आश्चर्य हुआ राम दूत मैं मातु जान के सत्य सपथ करुणा निधान यह मुद्रिका मातु मैं आने दिन राम तुम कह सहिदाय नर बान रहे संग कहूँ कैसे कहे कथा भय संगत जैसे हनुमान जी ने कहा हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी निशानी या पहचान दी है सीता जी ने पूछा नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही कपि के बचन स प्रेम सुने उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है हरिजन जाने प्रीतियति गाढ़े सजल नयन पुल कावल बाढ़े भूड़त बिरह जलधि हनुमाना भयता